प्रथम मंत्र का वाक्य भाषा कुछ इक्यानवे वर्ष में विचार्य प्रतिवचन से अर्थम संग्रहित विवृणति सम्यक सम्यक वस्तु निश्चयाय विचालित शिष्य आचार्यण मीमांस्यमेव तुक्त उक्त एकांते समाहित होता विचार्य यथोत्तम सम्यक वस्तु निश्चय करने के लिए आचार्य ने विचालित किया शिष्य बुद्धि को थोड़ा हिलाया मीमांस में तय तो तुमको अभी विचार करना है थोड़ा ही जानते ऐसा कहा कहने पर एकांते समाहित भूत्वा विचार्य शिष्य एकांत में रह करके समाहित चित्त हो करके विचार करके यथोत वस्तु का विचार करके फिर सुपर निश्चित आसन आह निश्चय होने पर आका आचार्य आत्मानुभव प्रत्यय त्रयस्य एक विषयत्वेन संगत्यर्थम जो आगम में कहा गया आचार्य उपदेश आत्मानुभव तीन एक अर्थक है ये संगति एक अर्थ में संबंध है एक अर्थ के निश्चय करने के लिए कहा टीका में विचार किया शिष्य ने कैसे मया विदितम ब्रह्मेति किम प्रतिवचनं ददामि वो तो आविदितम इतिवा विदितम ब्रह्म ऐसे उत्तर दूंगा अथवा अविदितम नाद्य विदितम ब्रह्म ये कहना ठीक नहीं आचार्य आगम प्रत्यय विरोधात आचार्य के द्वारा जो आगम उपदेश विदित अन्य देव तद तो विदित से भिन्न है उसका विरुद्ध होता है वेदन विषयतया च घटवत अब्रह्मत्व तो प्रसंगात वेदन का विषय विदितम वेदना विषय को विदित ज्ञात ज्ञान का विषय जैसे घट ज्ञान का विषय है अनात्मा है ब्रह्म है इसी प्रकार ज्ञान का विषय होगा तो अब्रह्मत्व प्रसंग आता अनात्म तत्व प्रसंग आता वेदित्वेन मम विकारित्वा पताच यदि मैं वेदिता ज्ञाता है ज्ञातृत्व धर्म रहेगा तो विकारित्व आएगा क्योंकि वेदन ज्ञान परिणामी वेदन है ज्ञान रूप परिणाम जिसमें होता है वो होता है वेदिता ज्ञान का आश्रय तो ज्ञान रूप परिणाम का आश्रय परिणामी परिणामी होगा तो विकारी हो जाएगा तो आत्मा में विकारी तो प्रसंग और ब्रह्म में घटवत अनात्मत्व तो प्रसंग इसलिए वेदित विदितम ब्रह्म इति उत्तर ठीक नहीं तो अविदितम ब्रह्म कहेंगे न द्वितीय नहीं जाना कुछ तो गोपाल आदि भ्यो अविशेष प्रसंगात सामान्य जो अज्ञानी है गोपाल गोचराने वाले और मूर्ख है कुछ नहीं जानते इसी प्रकार अविदितम तो उनके बराबर हो जाएगा और चुप रहेंगे विदितम कहेंगे नहीं अविदितम नहीं कहेंगे तुलसी में अवस्था ने वा अप्रतिभा प्रसंग आता एक अप्रतिभा है शास्त्रार्थ करते समय कुछ ब्रादी ने कहा प्रतिवाद ने कुछ कहा यदि उसके विरुद्ध वादी उत्तर का प्रतिवादी अथवा प्रतिवादी के कहने के बाद वादी ने कुछ नहीं कहे तो उत्तर के अप्रतिभा अप्रतिभा पूर्ण नहीं हुआ उत्तर नहीं दे पाया तो अप्रतिभा उनसे जड़ता है शास्त्रार्थ में हार जाती हाँ ऐसे हो जाएगा बिल्कुल अप्रतिभा प्रसंग जाड्य प्रसंग इति अभी कहने पर विदितम कहना है नहीं अविदितम नहीं कहना चुप भी नहीं रहना ये तो फिर क्या करना है एक एक विचार एक एक पक्ष दोष परिजीर्षया प्रत्येक पक्ष में दोष है दोष परिहार करने की इच्छा से विदितम अविदितम चैति समुचितम वस्मि विदितम अविदितम च अविदितम च दोनों मिलाकर कहूँगा दोनों मिलाकर कहेंगे तो विदितम कहेंगे तो अविदित पक्ष दोष नहीं अविदितम कहें तो विदित पक्ष नहीं और चुप नहीं रहने पर जो अप्रतिभा वो भी नहीं है तो फिर विदितम कैसे होगा ब्रह्म अज्ञान संशयादि अभावात विदितम अज्ञान संशय विपर नहीं होने से विदित कहूंगा और अविदित क्यों वेदन विषय तो अभावाच विदितम ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होता इसलिए विदितम और अज्ञान संशय विपर नहीं होने से विदितम इति सुपरिनिश्चित सन निश्चित होकर के निश्चय करके प्रतिवचन आह इत्यर्थ उत्तर दिया आचार्य के पास जाकर करके प्रत्यय से संगति प्रत्यय से एक विषय तो संगति अर्थम प्रत्यय की संगति अनुगम एक विषयकत्व संगति संगठनम एक विषय किमर्थम उच्यते जो प्रत्ययतर से संगति है संगठन में एक विषय में क्यों कहते किमर्थम उच्यते ये प्रश्न है उसका उत्तर संवादाधीनम प्रामाण्यमिति तार्किक स्थिते निश्चयार्थम संवादाधीनम प्रामाण्यम संवाद प्रत्ययतर संवाद होने से प्रामाण्य निश्चय होता है संवादाधीनम प्रामाण्यम प्रत्येक वन्य अनुमान कर लिया और यदि कोई कहा हां बनी है मैं देखा तो दृढ़ हो जाता है जाकर प्रत्यक्ष देखने पर और दृढ़ हो जाता है यद्यपि अनुमान प्रमाण से वन्य निश्चय हुआ तो भी कोई आप तो देखा हां हां वन्य है मैं वहां से आया देखा तो फिर और निश्चय होता है वन्य हो जल हो तो फिर जाकर देख लिया तो और आनंद है निश्चय हो गया दृढ़ हो गया प्रत्यय संवाद के अध्ययन प्रमाण दृढ़ होता है ये तार्किक स्थिति तार्किक मर्यादा है तो ज्ञान प्रमा है आगे अनुमान करते प्रमाण निश्चय करते सत प्रमा ये तार्किक लोग प्रमाण का निश्चय करते इदम ज्ञानम प्रमा जल ज्ञानम प्रमा जलत्वती जलत्व प्रकारकत्वार इस अनुमान करेंगे जल को देखा ज्ञान है इदम जलम ज्ञान हो गया ज्ञान होने के बाद ये ज्ञान प्रमा है ऐसा नहीं कर सकते हैं जलत्वेन इमम अहम इदम अहम पश्यामि ये अनुवेशा होगा जलम पश्यामि जो कहते हैं अनुवेशा का अर्थ होता है इदम जलत्वेन अहम पश्यामि जल रूप से मैं देखता हूँ किंतु जल है अथवा नहीं है प्रमा है या नहीं निश्चय नहीं है ज्ञान होने मात्र से प्रमा निश्चय नहीं होगा फिर कैसे निश्चय होगा जा करके पानी पिया तृष्णा निवृत्ति हुई हाँ, इदम ज्ञानम प्रमा जल ज्ञान प्रमा क्योंकि तृष्णा निवर्त के जल जलत्ववती जलत्व प्रकारकत्वात् ऐसा अनुमान करेंगे प्रामाण्य परत प्रामाण्य न्याय मत के अनुसार अनुमान के अधीन फिर प्रामाण्य निश्चय होगा किंतु वेदांत में ज्ञान होते ही प्रमात्व नहीं होता है ये जल ज्ञान हो तो प्रमा है तो प्रमात्व की उत्पत्ति प्रमात्व का ग्रहण दोन स्वतः प्रमात्व की उत्पत्ति स्वतः अर्थात जिस सामग्री से प्रमा की उत्पत्ति उसी सामग्री से प्रमात्व की उत्पत्ति हो जाती है जिसके द्वारा ज्ञान का ग्रहण होता है उसे प्रमात्व का भी ग्रहण हो जाएगा ज्ञान का ग्रहण तो तार्किक मत के अनुसार अनुव्यवसाय ज्ञान से मानस प्रत्यक्ष होता है वेदांत मत में ज्ञान का ग्रहण होता साखी प्रत्यक्ष जिस साखी के द्वारा ज्ञान गृहीत हो जाता है वह ज्ञानगत प्रामाण्य भी साखी ग्रहण कर लेने से घट ज्ञान होने पर प्रमा प्रमा नहीं ये प्रमात्व ने निश्चय होता है यदि कहीं दोष हो तो भ्रांति अप्रमा ऐसे संशय हो सकता है नहीं तो प्रमात्व ने निश्चय होता है तो सत प्रामाण्य पक्ष में प्रामाण्य संवादाधीन प्रामाण्य तो नहीं बनेगा क्योंकि प्रामाण्य तो पहले एक ज्ञान होने दे प्रमाण निश्चय हो गया अब दूसरे ज्ञान से प्रामाण्य अधिक क्या आएगा तो सत प्रमाण है तो उसके लिए कहते सत प्रामाण्य पक्ष तो आगमार्थ है प्रत्यांतर संवाद तात्पर्य द्योतक प्रतिबंध निरासन उपचार निश्चय सत सतप्रामाण्य पक्ष में आगमार्थे शब्द श्रुति का अर्थ यह निश्चय हुआ किंतु यदि प्रत्यक्ष अन्य प्रमाण से निश्चय हो गया तो श्रुति का तात्पर्य इसमें है श्रुति तात्पर्य का द्योतक हो जाएगा प्रत्यांतर संवाद अन्य ज्ञान से यदि ग्रहण हुआ अन्य ज्ञान का विषय हुआ तो ये तात्पर्य श्रुति तात्पर्य का निश्चायक हो जाएगा तात्पर्य का सूचक हो जाएगा तात्पर्य में संशय होता है श्रुति का तात्पर्य है अथवा नहीं है तो वहां शब्द से ज्ञान होने के बाद अन्य प्रमाण से यदि उसी ज्ञान हो गया विषय ग्रहण हो गया तो श्रुति का तात्पर्य इस विषय में दृढ़ निश्चय हो जाता है तात्पर्य द्योतक और शब्द से ज्ञान होने के बाद भी कुछ प्रतिबंध रह सकता है प्रतिबंध संशय विपर्य आदि प्रतिबंध है पे अन्य प्रमाण से यदि अनुमान आदि प्रमाण से निश्चय होता है तो प्रतिबंध निराश हो जाता है श्रुति प्रमाण से सुना नेह नानास्ति किंचन ब्रह्म में नाना है ही नहीं किंतु श्रुति से तो निश्चय हुआ ब्रह्म में नाना नहीं है किंतु जो अनुमान के द्वारा फिर निश्चय करते हैं प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्न दृश्यवत स्वप्न दृश्य जिस प्रकार मिथ्या है क्योंकि दृश्य है इसी दृश्यत्व हेतु के द्वारा जागृत प्रपंच भी मिथ्या है दृश्यत्व हेतु के द्वारा निश्चय होता है मिथ्या होने पर अब नहीं होने पर दिखता है तो उसको कहते मिथ्या तो जो श्रुति कहते नेह नाना किंचन ब्रह्म में नाना नहीं है दिखता तो है जरूर किंतु वास्तव नहीं है तो उसको कहते मिथ्या जो अनुमान से निश्चय हुआ तो श्रुति तात्पर्य निश्चय हो जाता है वास्तव ये प्रपंच दिखने पर भी है ही नहीं वास्तव नहीं है तो उसमें प्रतिबंध जो श्रुति में आगमत विषय में संशय होता था क्या सचमुच श्रुति कहती नेह नानास्ति किंचन ब्रह्म में नाना नहीं है श्रुति ऐसा कहती कोई कोई कहते ब्रह्म में नाना नास्ति नेह नानास्ति का अर्थ नाना शब्द को नानात्व तो कर दो इसको कहते भाव प्रधान निर्देश ब्रह्म में नानात्व नहीं है अर्थात ब्रह्म नाना अनेक ब्रह्म नहीं एक ही ब्रह्म है दो चार पांच दस सौ हजार ब्रह्म नहीं एक ही ब्रह्म है नानात्व का निषेध करना प्रपंच नाना तो ब्रह्म में है ब्रह्म में नानात्व नहीं है अनेकत्व नहीं एक ही ब्रह्म दो चार नहीं है अधिक ब्रह्म नहीं है ऐसा अर्थ करते हैं तो संशय हो जाएगा क्या सचमुच नाना का भेद का निषेध किया गया या ब्रह्म में अनेकत्व का निषेध किया गया यह जो प्रामाण्य संशय है उसकी निवृत्ति हो जाती अनुमान से जब निश्चय हो जाता है प्रपंच मिथ्या ब्रह्म द्वितीय है और श्रुति तात्पर्य शब्द प्रमाण संशय दूर होने पर भी एक होता है प्रमेय संशय श्रुति कहती है ये प्रपंच नहीं है ब्रह्म में किंतु स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखता है नहीं है मिथ्या कैसे कहेंगे ये संशय प्रमेय संशय और जीव ब्रह्म की एकता कैसे हो सकती है इसकी निवृत्ति होते अनुमान जो करेंगे लक्ष्यार्थ में एकत्व है और प्रपंच मिथ्या होने का न विद्यमान नहीं है ब्रह्म अद्वितीय है तो श्रुति का निषेध समीचीन है नयनानास्ति किंचन तो प्रमेय संशय दूर हो जाता है प्रमाण संशय प्रमेय संशय होता है प्रतिबंध शब्द से ज्ञान उत्पन्न होने पर भी जो संशय रहता है आगे निदिध्यासन नहीं हो सकता है तो संशय निवर्तक होते मनन निधिध्यासन श्रवण से तो ज्ञान हो जाता है मनन से संशय निवृत्ति होती है और निदिध्यासन से विपरीत भावना की निवृत्ति होती है विपरीत भावना भी प्रतिबंध है तो प्रतिबंध निराश है ना अन्य प्रमाण से यदि वही ज्ञान हो गया तो प्रतिबंध संशय निराश हो जाता है संशय निराश होने से प्रतिबंध निराश होने से प्रामाण्य अन्य प्रामाण्य संवाद अन्य ज्ञान से ग्रहण हुआ वो निश्चय हेतु हुआ निश्चय हेतु ने निश्चय तो श्रवण से हुआ था निश्चय होने पर भी जो प्रतिबंध था प्रतिबंध को नाश कर देने से निश्चय दृढ़ हो गया इसलिए वह प्रत्यांतर संवाद निश्चय का हेतु उपचार है ना गौण प्रयोग होता है तो ये निश्चय हो गया अब अन्य प्रमाण से कहा निश्चय हो गया अथा संशय होता था और कोई आप्त ने कहा ठीक है तो निश्चय हो जाता है निश्चय हेतु हो गया प्रमाण प्रत्यांतर संवाद अन्य प्रमाण से ऐसे ग्रहण होता है तो निश्चय हो जाता है निश्चय पहले होने पर भी ये प्रतिबंधता प्रतिबद्ध ज्ञान निश्चय जैसे नहीं लगता है और प्रतिबंध हट गया तो लगता निश्चय हो गया तो निश्चय हेतु तो उपचार गौण प्रयोग इति सर्वस्य प्रतिवचन वाक्य से तात्पर्य मुक्त्वा इस प्रसारे सारे उत्तर शिष्य के उत्तर वाक्य का तात्पर्य कथन करके मन्य विदितम इत्यादि ना मन्य विदितम शिष्य आग्रह कहा मन्ये विदितम इति पहले भाष्य में एवं ही सुपरिनिष्ठिता विद्या सफला स्या ना निश्चित इति न्याय प्रदर्शितो भवति सुपरिनिष्ठिता विद्या सफला स्यात् निश्चित होने पर विद्या सफला फलवती होती है अज्ञान की निवृत्ति होती है अनिश्चिता इति न अनिश्चित होने पर अनिश्चित विद्या अज्ञान निवृत्ति का नहीं इति न्याय प्रदर्शित नियम सिद्ध होता है प्रत्यांतर आकर के आचार्य के पास कहा मन्य विदितम अभी मन्य विदितम इसे कह कह दिया तात्पर्य सम मन्य विदितम इति एक देशस्य अर्थ अर्थम सगणाति सारे उत्तर कथन करके मन्य विदितम इतने जो कहा उसका अर्थ संग्रह से भाषा में कहते हैं परिनिष्ठित निश्चित विज्ञान प्रतिज्ञा हेतुते मन्य विदितम इतने जो वाक्य शिष्य का ये प्रतिज्ञा है शिष्य कहता है परिनिश्चित निश्चित विज्ञान परिनिश्चित दृढ़ निश्चित विज्ञान की प्रतिज्ञा परि परित निश्चित स्थिर हो गया संशय विपर रहित हो गया ऐसा निश्चय विज्ञान की प्रतिज्ञा मन्य विदितम ये कैसे प्रतिज्ञा हुई हेतु ते हेतु कथनात् हेतु कथनात आगे हेतु देता है शिष्य स्वयं हेतु कथन करता है हेतु देने से जो निश्चित दृढ़ निश्चय हुआ उसकी प्रतिज्ञा करता है आगे हेतु भी देता है इसे प्रतिज्ञा कहते पर्वतो वन्यमान ये प्रतिज्ञा वाक्य है पर्वतो वन्यमान इसे प्रतिज्ञा वाक्य के बाद हेतु कहा जाता है धूमवत्वात इसी प्रकार मन ने विदितम कह करके आगे कहता है आगे मंत्र के द्वारा उसका हेतु देता है हेतु कथन करने से ये प्रतिज्ञा है निश्चित दृढ़ निश्चित विज्ञान की प्रतिज्ञा है नवम मंत्र का प्रथम नवम नव एक क्या अच्छा नवम मंत्र प्रारंभ से द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र है पूरा हुआ आगे द्वितीय मंत्र मन्य विदितम तो कैसे है तो कहते हैं नाह मन्य सुवेदेति नून वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नून वेदेति वेद च नाह मन्य सुवेदेति अहम सुवेदिति न मन्ये सृष्टि वेदाहम पहले जो कहा था सृष्टि वेदाहम यदि मानते हो यदि मन्य से सुवेदेति तो दहर में वो कहा अभी कहता है नाह मन्य सुवेदेति हम सुवेद सृष्टि वेद हम इति न मन्ये सृष्टि वेद ठीक जानता हो नहीं मानते हो तो नहीं जानते हो कहते नो न वेद इति नो न वेद न वेद इति नो नो का अर्थ भी न नो न वेद सुवेद इति न मन्ये वे न वेद इति तो नो मन्ये नहीं जानता ये भी नहीं मानता हूँ सुष्टु वेद में नहीं जानता हूँ और नहीं वेद ये भी मैं नहीं कहता हूँ तो न वेद ऐसे नहीं कैसे होगा यदि नहीं जानते हो तो न वेद नहीं जानते हो ना हम मन्य सुवेद सुवेद सुष्टु नहीं जानता हूँ और नहीं जानता हूँ ये भी बात नहीं ऐसा कैसे परस्पर विपरीत नहीं जानते हो तो फिर न न वेद कैसे नहीं मानते हो तो उसका उत्तर वेद च वेद च जानता भी हूँ और चौकन से वेद च न वेद च जानता भी हूँ नहीं भी जानता हूँ सुष्टु वेद ऐसा नहीं जानता हूँ नहीं जानता ये भी नहीं मानता हूँ क्योंकि जानता भी हूँ नहीं भी जानता हूँ ये परस्पर विपरीत क्या है ऐसा तो शिष्य कहता है यो नस्तद वेद तद वेद यो न न अस्माक दे यो तद वेद तद वेद हमारे में सहपाठी में भी मेरे वचन में जो कहता हूँ इसको जो ठीक समझता है वही तद वेद ब्रह्म जानता है यह नह का तस्मा का मध्य तदवेद मैंने जो कहा नो न वेदेति वेदच इसका अर्थ को जो ठीक समझता है तदवेद वही ब्रह्म को ठीक जानता है योनस तद्वेद क्या जानता है आपने क्या कहा नो न वेदेति वेदच नो न वेद इति वेदच जो न न वेद वेदच नहीं जानता हूं ऐसा नहीं मानता हूं क्योंकि वेद च जानता भी हूं नहीं जानता भी हूं इसी का अर्थ को जो ठीक समझता है वही ब्रह्म को जानता है भाष्य में कथमिति श्रुणुत मन्य विदितम कैसे नाह मन्य से वेदेति नैव अहम मन्य से वेद ब्रह्मेति अहम ब्रह्म वेद इतने नैव मन्ने ऐसा नहीं जानता हूं पहले यदि मन्य से सुवेदिति कहा था इसलिए कहता नहीं से वेद ब्रह्म इति नहीं मानता हूं तो नैव तरी विदित अंतया ब्रह्म तो सृष्टि वेद नहीं मानते हो तो अभी तो तुमको ज्ञान हुआ नहीं न विदित अंतया ब्रह्म ब्रह्म को ज्ञान अभी ब्रह्म का ज्ञान हुआ नहीं इतुक्ते इतुक्त आह इतुक्त आह नो न वेदेति वेदस सृष्टि वेद नहीं मानता हूं नो न वेद मन्ने न वेद इति न मन्ये वेद च चकन से वेद चैति च शब्दात न वेद च वेद च न वेद च ननु विप्रतिसिद्धम ये तो परस्पर विरुद्ध है ना हमने सुवेदेति सुवेद नहीं मानता हूं और न वेदित न ये भी नहीं मानता हूं अरे वेद च न जानता भी नहीं जानता हूं ये सब तो परस्पर विरुद्ध ननु विप्रतिसिद्धम विरुद्धम इदम ना हमने सुवेदेति नो न वेदेति नहीं जानते ये भी नहीं वेद च च शब्द से न वेद च ये तो परस्पर विरुद्ध होता है यदि न मन्य से सुवेदेति कथम मन्य से वेद च इति यदि जान पहला कहता तो ना हम मन्य सुवेदेति यदि सुवेदेति न मन्य से ब्रह्म जानता है ऐसा नहीं मानते हो फिर कथम आगे कह तो न वेदेति वेद च फिर वेद च किसे मानते हो सुष्टु वेद ऐसा नहीं मानते हो कहते वेद च जानता भी हूं यदि वेद से जानते हो अथवा मन से वेद ही वैति यदि जान ये मानते हो वेद च वेदेव ब्रह्म जानता ही हूँ कथम मन्य से न मन्य से सुवेदेति अंत में कहते वेद च अब पहले कहते तो ना मन से था यदि वेद तो दे कैसे नहीं मानते हो कथ न मन से वेदेति एकम वस्तु येन ज्ञायते तेनेव तदेव वस्तु न सुविज्ञायते इति विप्रति सिद्धम संशय विपर्य वर्जयित्वा तो ब्रह्म को पहले कहते तो ना हम अन्य सुवेदित सुवेद नहीं मानते हो आगे कहते वेदच जानते भी हो तो वेदच एक वस्तु ज्ञात हो गया और सुष्टु वेद नहीं हुआ यदि न मन्यते सुवेदेति कथम मन्यसे वेद मन्य से वेदेति कथम न मन्य वेदेति एकम वस्तु येन ज्ञायते एक वस्तु का ज्ञान जिसको हुआ तेने उसी पुरुष के द्वारा तदेव वस्तु न सुविज्ञायते वही वस्तु नहीं जानी जाती है इति विपरीत सिद्धम जो वस्तु जिस पुरुष से ज्ञात है उसी वस्तु उसी पुरुष से सुष्टु नहीं जानी जाती ये तो विरुद्ध है हां संशय हो तो भ्रांति हो तो ठीक है संशय विपर वर्जित्वा यदि जानता हूं किंतु ठीक नहीं जानता हूं तो संशय है अथवा भ्रांति है देखता ते तो हूं क्यों ठीक नहीं जानता हूं सर्प मुझे दिखता है सब लोग कहते रज्जु है तो देखता तो है मैं देख रहा हूं किंतु ठीक नहीं जानता हूं अथा संशय कभी सर्प कभी रज्जु समझते तभी तो संभव है तो इधर कहते मैं वेद अच्छा जानता भी हूं जोर से गर्जन कर कहते हो इधर कहते ना हमने वेदिति संशय और विपर्य हो तो चलेगा संशय विपर्य के बिना एक ही वस्तु जानी जाती है और उसी पुरुष के द्वारा उसी वस्तु उसी समय सुष्टु नहीं जानी जाती ये तो विरुद्ध होता है अच्छा यदि संशय ज्ञान तुम कहे इतने मात्र से वेद से क्या कहते हो संशय भ्रम हो तो वेद से कहने का क्या जरूरत है तो वो ज्ञान से तो कोई प्रयोजन नहीं है न च ब्रह्म संशय तत्वेन न विपरीतत्वेन वेति नियंतुम सक्यम ये नहीं कि ब्रह्म का ऐसे ज्ञान चाहिए संशयात्मक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म न ज्ञेयम् विपरीतत्व न वा इति न नियंतुम सक्यम ऐसा नियम नहीं कर सकते कि ब्रह्म का ज्ञान संशय ज्ञान होना चाहिए विपरीत भ्रांति ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान तो कोई का प्रयोजन नहीं उसका क्योंकि संशय विपर्य ही सर्वतः अनर्थकरत्वेन प्रसिद्धौ अनर्थकरत्वेन एव प्रसिद्धौ संशय भ्रांति ज्ञान तो अनर्थकर सर्वत्र लोक में भी सर्वत्र प्रसिद्ध है और ज्ञान हुआ किंतु संशय ज्ञान विपरीत ज्ञान उस ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है एवं आचार्यण भी शिष्यो न विचचाल फिर आचार्य ने से कहा क्या कहते हो नाहमने से देती फिर कहते वेद च नाहमने से वेद नो न वे देती न वेद नहीं मानते हो वेद नहीं मानते हो वेद च फिर न वेद च कहते हो ये सब परस्पर विरुद्ध होता है तो आचार्य ने फिर विचालमान विचलित कराया शिष्य न विचचाला विचलित नहीं हुआ क्यों विचलित नहीं हुआ अन्य देवता तद तथा तत अविदिता तदित आचार्य उक्त आगम संप्रदाय बलाद उपपत्ति अनुभव भव बलाच जगर्ज च ब्रह्म विद्यायाम दृढ़ निश्चयताम दर्शनात्मन अन्य देवता तद तथा तत अविदिता तदि आचार्य उक्त आगम आचार्य ने कहा था आगम अन्य देव तद विदिता तो ब्रह्म विदित से अन्य है अविदित से भी ऊपर है अविदित से भी अन्य जितने वस्तु ज्ञात अज्ञात उससे भिन्न है ब्रह्म अपना स्वरूप है आचार्य तो जो आगम संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा उपदेश संप्रदाय आगम का जो उपदेश हुआ आचार्य के द्वारा कहा गया वो भी इसी परंपरा से प्राप्त है उसके संप्रदाय बलात् उसके सामर्थ्य से और दूसरा है उपपत्ति अनुभव बलाच युक्ति और अनुभव आगम संप्रदाय उपदेश आचार्य परंपरा से जो उपदेश आगम वाक्य बलवान है उसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी अप्रमाण हो जाता है ये आगम प्रमाण से दृढ़ प्रमाण है उसके बाद कुछ प्रतिबंध है संशय उपपत्ति युक्ति से निवृत्ति हो जाती है और संशय निवृत्त होने के बाद साक्षात्कार हो जाता है विपर्य नष्ट होने से अनुभव वाला च युक्ति अनुभवी आचार्य संप्रदाय आगम संप्रदाय आचार्य उपदेश युक्ति अनुभव वाला च जगर्ज गर्जन किया ब्रह्म विद्यायाम दृढ़ निश्चयताम दर्शन आत्मन आत्मन दृढ़ निश्चयताम ब्रह्म विद्या में दृढ़ निश्चय है दिखाते हुए कहा शिष्य और भय नहीं किया आचार्य ने विचलित करने पर भी दृढ़ निश्चयता दिखाते हुए गर्जन किया कैसे गर्जन किया क्या क्या कथम उच्य कथमिति उच्यते यो न तद्वेद तद्वेद क्या ये मैं जो कहता हूँ हमारे शिष्य सहपाठी में शिष्य ने सहपाठी में जो उसको समझता है जानता है वो ठीक जानता है यो यह कश्चित न अस्माकम सब्रह्मचारिण मते न का तस्माकम सब्रह्मचारी एक गुरु से श्रवण करने वाले सो परस्पर सब्रह्मचारी जैसे गुरु भाई कहते हैं सब्रह्मचारिण मध्ये तद वेद तत्का था मधुक्तम वचनम तत्व तो वेद मैंने जो कहा इसको ठीक ठीक जो जानता है सतत ब्रह्म वेद वही ब्रह्म को जानता है तो क्या तुम्हारे वचन है इसको जानने से ब्रह्म को ठीक जानता है किम पुनः तद वचनम तो वचन क्या है इतता नो न वेदेति वेदस इसका रहस्य जो समझता है वही ब्रह्म को जानता है न वेदित न मन्ये नो न वेदित मन्ये अरे वेद च न वेद च जानता भी हूं नहीं जानता भी हूं टीका में आचार्य वचनाद अन्य देव वचनम शिष्य वाचेति ना संकनियम आचार्य ने कहा था अन्य देव तद विदिता तथा अविदिता दधि ज्ञान तो अज्ञान से भिन्न और यहां ये स्पष्ट करना चाहिए हां मैंने समझ लिया जब ब्रह्म विदित अविदित दोनों से भिन्न तब तो आचार्य का कथन उसका अनुभव समान होता है ये नहीं कह करके कहता है ना हमने सुवेदित नो न देती वेदच और उसके लिए फिर कहता है नो यो न तदवेद तदवेद जो हमारे में जानता है ठीक जानता है नो न वेदित वेदच अंत में एक कहा नो न वेदित वेदच वेदच न वेदच ये कहता है तो ये अलग होता है आचार्य वचनाद उपदेश वचन से शिष्य का जो वचन है अन्य देव इत न आशंक नियम ऐसे शंका नहीं करना है जो आचार्य ने कहा था वही शिष्य कह रहा है अन्य शब्द से यदेव अन्य देव तद विदिता तथ विदिता तदितुक्तम वस्तु अभ्याम संयोज्य निश्चितम वाक्यांतरेण नो न वेदेति वेद चेति अवचत आचार्य बुद्धि संवादार्थम मंद बुद्धि ग्रहण व्यापार्थम च यदेव जो आचार्य ने कहा था अन्य देव तद विदिता तत अविदिता तद ही यही कहा था उक्तम यदेव यद उक्तम यदेव उक्तम आचार्य के द्वारा कहा तद ब्रह्म अन्य देव विदितात विदित से ज्ञात से भिन्न है और अविदित से भी अन्य ऊपर है अविदित अज्ञात से भी ऊपर अर्थात अविदित अज्ञात से भिन्न ऐसे जो वस्तु आचार्य ने कहा था वस्तु का उपदेश किया था उसको फिर अनुमान अनुभाभ्याम संयोज्य आचार्य उपदेश प्राप्त हुआ आगे अनुमान के द्वारा संशय निवृत्त हुआ फिर अनुभव हुआ साक्षात्कार हुआ निधि ध्यान करते अज्ञान निष्ठ हो गया संयोज्य निश्चितम निश्चित हुआ अभी उसको ही अन्य वाक्य से कहता है शिष्य वाक्यांतरण कहता है जो उपदेश आचार्य का वही शिष्य कहता है अनुभव करके नो न वेदेति वेदस आचार्य ने कहा ना विदित से अन्य अविदित से अन्य तो न वेदिते न मानता हूं वेद वेदच न वेदच नो न वेद अज्ञान है ऐसा अविदित है ऐसा नहीं मानता हूं अर्थात अविद अविदित से अन्य अरे वेदच न वेदच ज्ञात तो अज्ञात से भिन्न है जो कहा था जानता भी हूं नहीं भी जानता हूं ये कहा अवचत आचार्य बुद्धि संवादार्थम आचार्य बुद्धि में संवाद के लिए बुद्धि में दृढ़ होने के लिए कि ज्ञान हुआ मंद बुद्धि ग्रहण व्यापार्थम च नहीं तो मंद बुद्धि शिष्य है मंद बुद्धि का ग्रहण ज्ञान होगा आचार्य को ये कुछ नहीं समझता है चुपचाप रहता है जो आचार्य चुप रह जाएंगे कुछ समझता है नहीं मंदा बुद्धि रस संबंध बुद्धि ऐसा ग्रहण ज्ञान होगा आचार्य को मेरे विषय में उसका व्यापक निवृत्ति के लिए मंद बुद्धि नहीं जो आपका उपदेश ये मेरा अनुभव हुआ ऐसे कहता है टीका में तथा चैते आचार्य बुद्धि संवादे सति आगे तथा च गर्जितम उपपन्नम भवति यो न तद्वेदेति च इति तब जो गर्जन कर जोर से कहा वो प्रामाणिक होता है यो न तद्वेद तद्वेद तथा च का टीका में तथा चेते आचार्य बुद्धि संवाद सती आचार्य बुद्धि संवाद होने पर अर्थांतर अनविधाने सती आचार्य ने जो कहा था शिष्य वही कहता है अर्थांतर का कथन नहीं अर्थांतर कथन करे आचार्य ने कुछ उपदेश किया ये दूसरे कुछ कहता है गर्जन करके आचार्य समाज ये मूर्ख है मैंने कुछ कहा ये दूसरे कुछ कह रहा है तो गर्जन व्यर्थ है जोर से बोलने से शब्द का कोई अधिक बल हो जाता नहीं यथार्थ वाक्य है तो बल है यथार्थ नहीं खाली गलत वाक्य जोर से बोल दिया उसका कोई बल नहीं होता है तो आचार्य ने जो कहा उसको नहीं कर अन्य कुछ कहे गर्जन करके तो क्या होगा गर्जन व्यर्थ है किंतु आचार्य का जो कथन उसी कोई अन्य शब्द से कहता है आचार्य को निश्चय हो जाता है ठीक जानता है तो तथा च गर्जितम उपपन्न भवति तो गर्जन सार्थक हो जाता है यो न तद्वेद तद्वेदेति तथा च कहता आचार्य को बुद्धि संवाद हुआ अन्य कुछ अर्थ नहीं कहता है जो आचार्य ने कहा ये इसका अनुभव हुआ तर्क से और अनुभव से हुआ आचार्य बुद्धि संवाद हुआ अर्थांतर कथन नहीं हुआ तो गर्जन सार्थक हुआ वाक्य भाष्य में द्वितीय मंत्र परिनिष्ठितम सफलम विज्ञानम प्रतिजानित आचार्यात्मनिश्चयोस्तुल्यतायै परिनिष्ठितम संशय विपर रहित परित निश्चितम स्थिर हो जाना जब तो संशय विपर है तो अस्थिर है निश्चित हो गया सफलम विज्ञानम फलम फलेन सह विद्यते सफलम जिसका फल है दृढ़ निश्चय होने पर ही अज्ञान की निवृत्ति होती है विज्ञान सफल होता है थोड़ा सा भी संशय है विपरीत भावना है वो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है तत्वम से सुनने पर थोड़ा कुछ ज्ञान हो गया किंतु संशय विपरीत भावना है देहादि में अहम बुद्धि है जब तक मैं मनुष्य ऐसे बुद्धि है तब तक विपरीत भावना है अहम ब्रह्म मैं ब्रह्म शब्दार्थ तो ठीक है मैं ब्रह्म किंतु मैं कहते समय मैं इधर परिचय इधर मैं नहीं मैं अलग ब्रह्म अलग नहीं जो ब्रह्म व्यापक वही मैं हूँ अहम शब्द कहते व्यापक ब्रह्म की उपस्थिति हो देह नहीं है सर्वव्यापक ब्रह्म मैं हूँ देह में विपरीत भावना है विपरीत भावना है देह में अहम बुद्धि आत्मा ब्रह्म व्यापक है किंतु परिचन्न में अहम बुद्धि वही विपरीत भावना और संशय भी है समझ में आ जाता है ठीक शब्द से कहते हैं किंतु लगता है ये कैसे हो सकता है सारे जगत मिथ्या कुछ नहीं है अब ब्रह्म क्या है पता नहीं मैं ब्रह्म शब्द से कहते और सारे जगत जो दिखता है कुछ है ही नहीं ये संशय विपर्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है ये सफल विज्ञान होता पर निश्चित संशय विपर्य ज्ञान उसकी प्रतिज्ञा करता प्रतिजानिते इसका प्रतिज्ञा करता है शिष्य के सामने गुरु के सामने आचार्य के सामने प्रतिज्ञा करता है शिष्य किसलिए आचार्य आत्मनिश्चय तुल्यताई आचार्य के उपदेश और अपना निश्चय तुल्य है तुल्यता के लिए तो आचार्य के आत्मनिश्चय में तुल्यता के लिए ही कहता है यस्माद् हेतु माह संग्रह वाक्य था मन्ये विदितमिति परिनिष्ठित निश्चित विज्ञान प्रतिज्ञा हेतु ते हेतु कथन करने से यस्माद हेतु माह क्योंकि हेतु कहता है शिष्य नाहम अन्य सुवेदेति पहला आता था नाहम मन्य सुवेदेति देती नाहम न अहम अहम शब्द है वाक्य भाषा में नाहम हम अन्य सुवेदेति तो पाठ भेद कहीं अहम है कहीं अ है तो नाह मन्य अह शब्द इसमें अहम नहीं मैं को जो संस्कृत में अहम कहते वो अहम या नहीं है अह न मन्ने अह क्या है अह इति अवधारणार्थ निपातो अह एव के लिए एवकार अवधान निश्चय के लिए निपाते है अव्यय अह कात नैव नाह कात नैव मन्ने सुवेदेति मन्ने कौन से अहम शब्द अध्यार से आ जाएगा जा रहा हूं बोल रहा हूं खा रहा हूं कदन से अहम शब्द मालूम हो जाता है अहम शब्द नहीं होने पर भी अर्थ निश्चय हो जाएगा तो ह का अर्थ एव न आह का अर्थ नैव मन्यते नैव मन्ये नहीं ऐसा मानता हूं शिवेद नैव मन्ये इत्येतत् यावद अपरिनिश्चितम विज्ञानम तावद सुवेद सृष्टि वेद अहम ब्रह्मेति विपरीतो मम निश्चयासीति जब तक अपरिनिश्चित दृढ़ नहीं हुआ था संशय विपरीत ज्ञान देह आदि में हम बुद्धि विपरीत भावना देह को इंद्रियों को मन को बुद्धि को आत्मा मान लेते हैं तब तो लगता है मुझे ज्ञान हो गया अपरिनिष्ठित विज्ञान जब तक है तब तक सुवेद सृष्टि वेद हम ब्रह्म ठीक जान लिया मैं जानता हूँ क्योंकि बुद्धि को हम जानता हूँ यही जो बुद्धि सबको प्रकाश करने वाले हुई तो मैं हूँ बुद्धि को मैं जानता हूँ वही मैं हूँ करके लगता है कि निश्चय ज्ञान हो गया सृष्टि वेदाहम तब तक सृष्टि वेदाहम ब्रह्म इति ब्रह्म को ठीक जानता हूँ बार बार देखते बुद्धि के द्वारा निश्चय हुआ वो जो निश्चय होने वाली बुद्धि तो मैं ही हूँ जानता हूँ मैं बुद्धि को तो सुष्ट वेदाम ब्रह्म इति ये भ्रांति है बुद्धि को जानने वाला अहम है और बुद्धि को मैं मान करके मैं बुद्धि को जानता हूँ बुद्धि को जानता भी हूँ और बुद्धि सब को जानने वाला ब्रह्म है मैं ब्रह्म हूँ मैं जानता हूँ ये विपरीत निश्चय है विपरीत भ्रांति है बुद्धि तो ज्ञेय कोटि हो गया बुद्धि का प्रकाशक है तो बुद्धि को फिर अपने ब्रह्म स्वरूप से कैसे मानना जो ज्ञान जानने वाला दृग रूप है वो ज्ञेय नहीं होता है दृग तद्रिग तो है वो और बुद्धि दृश्य है ज्ञेय कोटि माया वो ब्रह्म नहीं है ये विपरीत भावना तब तक तो विपरीत निश्चय मम आसीत विपरीत निश्चय था जब तक दृढ़ निश्चय नहीं अपरिनिश्चित ज्ञान परिनिश्चित संशय विपर ज्ञान नहीं था तब तक इसे ज्ञान था मैं सृष्टि वेदा हम ये ब्रह्म था अभी सो अपजगाम अभी वो विपरीत निश्चय चला गया भवद वीर विचालितस्य यथोतार्थ मीमांसा फलभूतात् स्वात्म ब्रह्मत्व निश्चय रूपात् सम्यक प्रत्याद विरुद्धत्वात् उपजगा में वो विपरीत तो निश्चय चला गया आपने जो विचारित तो किया यदि मन से सुवेदित कहा तो फिर यथा उतार्थ मीमांसा फल होता यथोत तो अर्थ का मीमांसा विचार विचार का फल रूप ज्ञान मुझे हुआ विचार करके अन्य देव तदविदिता तत अविदिता तदि ऐसा आपने कहा उस अर्थ की विचार मीमांसा उसका विचार करने विचार का फलभूत विचार आ ते बोधो विचार का फल है ज्ञान बार बार अर्थ का विचार मनन करने पर विचार आ ते बोधो निच्छायम न निवर्तयेत सोत्पत्ति मात्रा संसारे दहत अखिल सत्यता पंचदश में कहा विद्यारण स्वामी ने विचारा जायते बोध श्रवण मनन निधिध्यासन मनन विचार करते करते अपने आप ही ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है विचारा जाए तो बोध हो अनिच्छा यम न निवर्तयति अनिच्छा इच्छा नहीं हो तो भी बोध की निवृत्ति कोई नहीं कर सकता है अनिच्छा निवृत्ति नहीं कर सकती इच्छा नहीं होने पर भी प्रमाण प्रमेय संबंध हो गया ज्ञान हो जाता है यदि चक्षु का संबंध हो गया चंद्र के साथ आज चंद्र दर्शन नहीं करने का निश्चय है इच्छा नहीं तो भी प्रमेय चक्षु संबंध होते ही ज्ञान हो जाता है दुर्गंध नहीं चाहने पर भी ग्रहण करना पड़ता है विचार करते करते प्रमाण से ज्ञान होता है प्रमाण वस्तु तंत्र है ज्ञानम इच्छा नहीं होने पर भी विचार करते करते ज्ञान हो जाता है कोई चाहे मुझे ज्ञान नहीं चाहे मोक्ष नहीं चाहे तो भी विचार से वेदांत श्रवण करेगा तो अधिकारी को ज्ञान हो जाता है विचार ही करते रहना चाहिए निरंतर विचार विचार करने पर दृढ़ निश्चय होता है तो विचार का अर्थ है मीमांसा का फल है विचार का प्रयोजन है दृढ़ निश्चय मीमांसा फलभूतात मीमांसा का फल विचार का फल है भूत है फलभूत ज्ञान कौन सा ज्ञान स्वात्म ब्रह्म तो निश्चय रूपात ये विचार का फल है विचार बहुत करने से ही फल होता है आत्म ब्रह्मत्व तो निश्चय रूपात आत्मन ब्रह्मत्वम स्वात्मन ब्रह्मत्व स्वात्म ब्रह्मत्व आत्मा ही ब्रह्म आत्मा में ब्रह्मत्व तो प्रकार के निश्चय आत्मा ही ब्रह्म अहमस्मि ब्रह्म पहले ब्रह्म सुन करके लगता है ब्रह्म जगत का करता है सृष्टि करने वाले कोई है अब अपने मैं हूँ इधर मैं उधर ब्रह्म तत्व से सुन करके मैं ब्रह्म हूँ इधर मैं उधर ब्रह्म ये जब विचार करते तो आत्मा में ब्रह्म तो ब्रह्म ही अहम आत्मा अलग ब्रह्म अलग नहीं एक ही यही निश्चय रूप है ये विचार का फल हुआ इसको कहते सम्यक ज्ञान सम्यक प्रत्यार हे सम्यक ज्ञान है आत्मा ब्रह्म आत्मा शब्द से व्यापक ब्रह्म लेना स्वात्मा का तो परिचिन्न लेकर के ब्रह्म ऐसा नहीं मनो ब्रह्म उपासित आदित्य ब्रह्म इति आदेश ये सब प्रतीक उपासना लेते हैं ब्रह्म दृष्टि करके परिचिन्न में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करते हैं ऐसे ब्रह्म ज्ञान नहीं परिचय इसको लेकर के स्वयं ब्रह्म दृष्टि करना अहम ब्रह्म कोई चिंतन करते उपासना करते उपासना है और निधि ध्यास नहीं देह में परिचन्न अहम बुद्धि करके अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान नहीं है ये ज्ञान सम्य ज्ञान होता है मैं अहम शब्द का अर्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ एक है दो नहीं है कोई व्यक्ति का नाम चैत्र है कहता को कस्तम तुम कौन हो कहता हम चैत्र चैत्र हम मैं चैत्र हूं तो मैं यहां और चैत्र वहां ऐसा नहीं कहता है मैं चैत्र जब कहता है मैं और चैत्र दोनों का अर्थ एक ही अहम चैत्र चैत्र नाम अहम चैत्र नाम के मैं हूं इसी प्रकार ज्ञान जब तक नहीं विचार करता है अहम शब्द का अर्थ परिचिन्न है हाँ, ठीक है देह आदि जागृत स्वप्न सुषुप्ति का साक्षी यहाँ है और ब्रह्म है व्यापक तो अहम शब्द का अर्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ दो लगता है जो ज्ञान होता है अहम ब्रह्म एक अर्थ है एक अर्थ को अहम शब्द ब्रह्म शब्द से कहा बाद में अहम ब्रह्म कहने की आवश्यकता नहीं एक एक अर्थ है शुद्ध चेतन तो निश्चय ये उसका नाम सम्य ज्ञान ये विचार करने से होता है मनन निधिध्यास नहीं करने पर श्रवण करने से जितने ज्ञान होता है उसको कोई थोड़ा मान करके कृत्य कृत्य मान लेते हैं वो ज्ञान तो नहीं हुआ ज्ञानित्व का भ्रम हो जाता है उससे कुछ लाभ नहीं होता है सम्य ज्ञान विचार करने पर होता है और विचार संशय निवर्तक मनन और निधि ध्यान करना विपर्य का निवर्तक ये दोनों करने पर ही दृढ़ ज्ञान होता है श्रवण मात्र से कोई कोई साला बता देते हैं से आदि सुनना तुमने वेदांत श्रवण करने के पहले तुमको मालूम नहीं था अभी से आदि सुनना वेदांत सुना कुछ ज्ञान हुआ या नहीं होता ना नहीं कुछ ज्ञान होता होता है मैं ब्रह्म ज्ञान हुआ पहले मालूम नहीं था कहते यत साक्षात अपरिचात ब्रह्म ब्रह्म अपरिचय यही ज्ञान अपरिचय और कोई अपरिचय वाले माला नहीं और कोई दिखेगा थोड़ी ब्रह्म जो अब तुमको निश्चय हुआ वही ब्रह्म है ज्ञान हो गया बस खुश है गुरु जी ने कहा ब्रह्म ज्ञान हो गया बड़े खुश है जब जब हम जहाँ जहाँ प्रवचन करेंगे आए वहाँ फिर दौड़ हमारे पास वह हम बताएंगे जो ब्रह्म तुम ज्ञान हो गया फिर दौड़ो और कुछ नहीं करो हमारे पास दौड़ते रहो सारा जीवन भर और कहीं ज्ञान हो गया संशय विपर्य निवृत्त नहीं हो कोई हजार कहे तो तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया जो साधक है वो बोलते हमको क्या मिला आचार्य कहते तुमको ज्ञान हो गया हमको तो कुछ पता पता नहीं चलता है वो तो क्या ज्ञान है कोई दवाई दिया खाने के लिए बच्चा को बच्चा कहते तो कोड़ा नहीं बहुत मीठा लगता है तुमको तुमको बहुत मीठा लगता है बोलो मीठा लगता है ना बोलो हम हाँ करो मीठा लगता है बच्चा खुश होकर बोलता है हाँ मीठा लगता है और तू तू तो कर फेंकता है कहता है बोलो मीठा लगता है गुरु कहते शिष्य को बोलो बहुत मीठा लगता है तो आ गुरु कहते थे तो, हाँ बहुत मीठा लगता है उधर लेकर तो तू फेंकता है मीठा लगेगा ना गुरु कहेंगे तो कड़वी दवाई मीठा लगे ना मीठा नहीं लगेगा ऐसे आज जो कुछ अल्प बुद्धि वाले वो खुश हो जाता हमको ज्ञान हो गया तो ये संशय विपर्य रहित ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है सम्यक प्रत्याद सम्यक प्रत्यय से ही सो अपजगाम विपरीत निश्चय जब था सृष्टि वेदाम जब तक अपरिनिश्चित ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ था तब तक मुझे ज्ञान हो गया मैं जानता हूँ ये विपरीत प्रत्यय था जो विचार करेंगे बार-बार संश्रवण मनन निधिदासना फिर दृढ़ निश्चय होता है निश्चय रूप सम्यक प्रत्यय से ही वो विपरीत भावना नष्ट होती है विपरीत भावना का नाश होता है नहीं तो विपरीत भावना की निवृत्ति भी नहीं होती है ज्ञान नहीं होता चाहे विपरीत भावना हो गया विरोचना को भी ब्रह्म ज्ञान हो गया था ऐसे ज्ञान हो जाएगा तो उसकी निवृत्ति बड़ा कठिन है इसलिए बड़े अधिकारी को पहले योग्यता होनी चाहिए थोड़ा मार्ग पर विचार करे आगे चले तब ज्ञान होता है उन मार्ग इसलिए विधिवत श्रवण करने के लिए कहा गया वो विपरीत प्रत्यय निवृत्त क्यों हुआ उसका हेतु दे ध्याय विरुद्धत्वाद विरुद्ध क्या है टीका में दिया विरुद्धत्वादिति विपरीत प्रत्यय से सम्य ज्ञान विरुद्धत्वाद सम्य ज्ञान का विपरीत प्रत्यय विरुद्ध है विपरीत प्रत्यय भ्रांति ज्ञान और सर्प ज्ञान इदम अयम सर्प समय ज्ञान नायम सर्प रज्जुरियम ये ज्ञान विपरीत प्रत्यय समय ज्ञान का विरुद्ध है और जब तक समय ज्ञान नहीं हुआ तब तक सर्प ज्ञान रहता है विपरीत ज्ञान रहता है समय ज्ञान यदि हो जाता है रज्जु ही ज्ञान अधिष्ठान ज्ञान हो गया तो दुदय मात्रात विपरीत प्रत्यय अपगत समय ज्ञान होते ही विपरीत ज्ञान नष्ट हो गया विपरीत ज्ञान सर्प ज्ञान ही रहेगा इसे नष्ट हो गया ये यहाँ तक हुआ आगे अतो नाह मन्य देती यहाँ तो भाष्य में अब है अतो नाह मन्य देती नाह नाह कहता नाहम अहम सुवेदित नाह मन्य नाह नैव मन्य नहीं जानता नहीं मानता हूँ सुवेद अभी नाह मन्य इसमें पदभाष्य में नाह मन्ने कहा था इसमें नाह मन्ने नाह अह अहकात एवकार ओम आप्यायन्तु मम